Uh, जहाँ तक इगोइज्म है वहाँ तक जहाँ तक पुरुषार्थ है प्रार्थ है वहाँ तक इगोइज्म है वहाँ तक फिर व्यवस्थित कहाँ तक बोला जाता है कि तेरी कोई इगोइज्म नहीं है वहाँ जहाँ इगोइज्म नहीं वहाँ व्यवस्थित बोलो वो इगोइज्म है नहीं तो प्रार्थ भी फिरता है क्या फिरता है प्रारब्ध इगोइज्म लाइफ प्रारब्ध शैडो इगोइज्म कुछ भी कर सकता है इगोइज्म की बातें कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट और जो इगोइज्म नहीं है इधर ये हम बताता है क्या बताए फिर डिस्चार्ज बोला जाता है